जरत बिलो के जब ही कपाला विधि के लिखे अंगन जभाला नर के कर आपन बध बाचे हसे उजान विध गिराय साजे सोमन समुझ त्रास नहीं मोरे लिखा विरंच जरठ मति भोरे आन वीर बल सठ मम आगे पुनि पुनि कह शिलाजपति त्यागे मस्तकों के जलने जलने से जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच विधाता की वाणी लेखनी को असत्य जानकर मैं हंसा उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है अरे मूर्ख तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है कहयंगद सलज जग माहे रावण तो ही समान को नाही लाजवंत तब सहज सुभाव निज मुख निज गुण कह कथा ताते बार बीस तय कही सोभुज बल हुर घाली जितहु सहस बाहु बलि बाली अंगद ने कहा अरे रावण तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी इससे तूने उसे बीसों बार कहा भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है जिससे तूने बाहू बलि और बाली को जीता था सुलमति मंद दे अब पूरा काटे शीस की हो इंद्र इंद्रजाल कहु कही बीरा काट निज कर सकल शरीरा जरहि पतंग मोह बस भार बह खर बृंद तेन ते ही सूर कहा समुझ देखु मति मंद अरे मंद बुद्धि सुन अब बस कर सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है अरे मंदबुद्धि समझ कर देख पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते अब जन बढ़त बढ़ाव खल करही अब जन बतव अब जनि बत बढ़ाव खलु करहे सुन मम बचन मान परिहरहे दस मुख मैन बसेठी आय अस विचार रघुबीर पठाय बार बार यस कहीं कृपाला नहीं गजारी जसु बथे स्वीकारा मन महु समुझ बचन प्रभु के रे सहु कठोर बचन सठ तेरे अरे दुष्ट अब बत बढ़ाओ मत कर मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे हे दसमुख मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता अरे मूर्ख प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं नाहित कर मुख भंजन तोरा ले जाते सीत बर जोरा जान तव तो बल अधम सुरारी सुने हरि आन ही पर नारी तैन पति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जौन राम अपमान ही डरऊँ तो देखत यस कौतुक करऊँ नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता अरे अधम देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूँ तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूँ कि तो ही पटक महिषे नहते चौपट करी तब गाओ तब जुबतिन समेत सठ जनक सुत ले जाऊं तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं